खैरियत से हो वालेकुम अस्सलाम तरन्नु बानू आपा खैरियत से हो तुम भी खैरियत से हो और घर में सब खैरियत से हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं अजी तरन्नुम बानो आपा तुम्हारे अम्मी के आंख में दर्द था अब वो कैसे हैं और उनको बीपी की वजह से बहुत गुस्सा आता था बात बात पर अब वो कैसे हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आंख में दर्द तो ठीक हो गया मगर दुआ करो उनका बात बात पर गुस्सा कम नहीं हुआ बस हम लोग सब्र करते रहते हैं अच्छा मेरी बात तो छोड़ दो निगार फातिमा आज तुम बाहर क्यों आई हो वो भी मखना लगाकर थैला लेकर मैं तो सब्जी लेने के लिए आई हूँ क्यों तुम्हारे अब्बाजान तुम्हारे भाईजान बोले तरन्नुम बानो आपा क्या तुम्हें मालूम नहीं हमारे महल्ले की नूरानी मस्जिद से एक जमात अल्लाह के रास्ते में चार माह के लिए गई है उसमें मेरे अब्बा जान गए हैं और मेरे भाई को अब्बा जान ने मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दिए हैं अरे निगार फातिमा किसने कहा उनको जमात में जाने के लिए तुम्हारे भाई को मदरसे में भेजने के लिए तश्कील किसने की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तश्कील की निगार फातिमा तुमको किसने कहा मुझे मेरी बाजी ने बताया कौन भाजी भाजी भी कोई नाम है भाजी नहीं तरन्नुम बानो आपा बाजी बाजी कहते हैं उस्ताद को मैं मदरसा रियाजुल जन्ना में पढ़ती हूँ बाजी ने कहा जिन बच्चों को उर्दू आता है घर में तालीम करने के लिए हुक्म फरमाया मेरे अब्बाजान शराबी थे मेरे भाई बेनमाजी मगर जब मैंने घर में हदीस के किताब की तालीम करने लगी तो अब्बाजान का दिल अल्लाह ने नरम कर दिया फिर वो मस्जिद जाने लगे मस्जिद में सुबह में बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसा खुलाए उसमें अपने भाई को दाखिला कर दिया फिर वहाँ से बड़े मदरसे में दाखिला कर दिया अजी जो मैं पूछती हूँ वो बोलो तुम्हारे अब्बा जान को जमात में जाने के लिए कौन तश्कील की अरे सबर करो तरन्नुम बानो आपा तुम बिल्कुल नहीं बदली ज़रा सबर करो अब मैं वही बात बताती हूँ असल बात यह है जलसे में महल्ले की सारी औरतों के लिए इजतमा होता है एक दिन मुफ्ती साहब बयान के बाद फरमाया चार महीने की जमात निकल रही है मस्जिद से सारे बच्चे घरों में तश्कील करो बोले तो पहले मैंने अपने अब्बू का नाम लिखाया फिर घर जाकर अम्मी को समझाया अम्मी और मैंने मिलकर अब्बू को समझाया अब्बा जान मान गए अल्लाह के रास्ते में चले गए अच्छा ऐसा हुआ क्या हाँ बहन जब अबू जान और भाई जान चले गए अल्लाह के दिन के लिए तो मैं छोटी बच्ची अम्मी के हुक्म से मदरसा जाने से पहले घर की सब्जी लाकर देती हूँ अच्छा तरन मैं तो ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ चोटी डालकर सिंगार कराने के लिए ब्यूटी पार्लर ये ब्यूटी पार्लर क्या होता है तुमको क्या पता दुनिया का एक दुकान होता है वहाँ लोग खिदमत करते चोटी डालते पाउडर लगाते और बाल नए नए तरीके कैसे कतरते तो क्या तुम्हारी अम्मी तुमको चोटी डालकर सिंगारती नहीं नहीं मेरी अम्मी सोकर आठ बजे उठती है देखो तरन्नुम बानू आपा तुम इस तरह बाजार और दुकानों में जाकर सिंगार कराना बगैर मखना निगार फातिमा तुम तो मुझसे उम्र में छोटी हो फिर भी कितनी अच्छी बातें कितनी अच्छी सीरत कितनी कितनी हिकमत की बातें करती हो ये सब तुमको कहाँ हासिल हुई किसने सिखाई अफसोस मत करो तरन्नुम बानो आपा तुम भी ये सब बातें सीख सकती है मैंने ये सब मदरसा रियाजुल जन्ना बाजियों ने सिखाया प्यारी बहन अभी घर जाकर मेरे अम्मी अबू से कहूँगी मुझे बाजारी पढ़ना छुड़ाकर दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में दाखिल करें बहुत अच्छा तरन्नुम बानो आपा चलो मुसाफा करो फिर चलेंगे असलकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु मुंह साफ करना मेरा मुंह तो साफ है यहाँ रोड पर मुंह कैसे साफ करना नहीं तुम समझे नहीं मुसाफा करो का मतलब हाथ मिलाना है चलो हाथ मिलाओ फिर चलेंगे ठीक है असलकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातु माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने आपका इनाम भी आया है आकर ले जाओ और सही माना में देखो यहाँ पर बेतम चरले की और बेतम चरले से बाहर की ये इनाम ले जाओ उनका बहुत सारी जगहों से हमारी माँ बहनें आई हुई हैं और इसी तरीके से मर्द हजरात भी हैं मेरे मोहतरम माँ बहनों ये जो दावत की जो मेहनत है मर्दों के साथ साथ औरतों में भी है और इसी तरीके से बच्चों में भी है बच्चों के लिए तो मदरसा है और बड़ों के लिए हफ्ते में एक बार हर में हर महल्ले में इज्तम होता और दूसरे गांव के लोग हैं जैसे चावल के करनूल के और डोन के और वहाँ भी वो लोग जिस महल्ले में रहते और जिस इलाके में रहते वहाँ पर मस्तूरात के इज्तेमे होते हैं वहां पर पहुंचना वहां पर जो बात सुनते आके अपने घर में बताना औरतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी सिफत और ऐसी सलाहियत वाला बनाया है औरतें जो बात बोलती हैं वो मर्द उसको मान जाते हैं और ये बात मैं दावे के साथ कैसा बोल सकती हूँ बोले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम सलाम से बोले कि जन्नत के अंदर फला दरख्त का फल मत खाना तो लेकिन हवा सलाम ने सबसे पहले इंसान आदम सलाम को उस फल के खाने पर मजबूर कर दिया इसी तरीके से कि दुनिया के जितने काम होते हैं औरतें अपने शोहरों से मनवा लेते हैं तो मेरे मोहतरम माँ बहनों दीन की बात भी उनसे मनवाओ नमाज में जाने के लिए और इसी तरीके से हफ्तेवारी गश में जाने के लिए और इसी तरीके से आप औरतें इज्तम में जाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए आप लोग जो है के बात को अच्छा शाहिदा के लिए भी इनाम आया हुआ है अलग से अल्लाह ताला ये औरतों की तरफ से आया हुआ है अल्लाह कबूल फरमाए शाहिना की तरफ तो मेरे मोहतरम माँ बहनों के इसी तरीके से आप लोग और अपने घर के मर्दों को दीन और दावत की मेहनत के लिए राज़ी करें जिस तरह से दुनिया के काम मनवाते हैं और इसी तरीके से दीन के काम मनवाने की कोशिश करें और जिस तरीके से इस बच्ची ने मदरसे के ताल्लुक से बताया और बेतम चरले में और बेतम चरला वालों के लिए मदरसा खुला हुआ है तो बेतम चरले के जितनी माँ बहनें बैठी हुए हैं और अपने ख़ानदानों में रिश्तेदारी के अंदर जितनी बच्चियां हैं और उनको मदरसे में भेजने की कोशिश करें और मस्जिद के अंदर नूरानी मस्जिद के अंदर मर्द बच्चों का मदरसा है और सुबह में रोज़ाना चलता है और उसमें भेजने की कोशिश करें और इसी तरीके से रमज़ान के बाद मर्द बच्चों का मदरसा खुलने वाला है इन और उसमें भी बच्चों को भेजने की कोशिश करें अल्लाह हमें इबरत की तोफ़ी नसीब फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा और जो है के तादाद में और बच्चों को मदरसे में दाखिला करने की और दाखिला लेने की तोफ़ी मरहमत फरमाए